પાંચ દસ મિનિટમાં આ જાય જે બાદ આપણે શરૂ કરી દેવા આપણ કીધું तो एक तो मैं बता दूं कि भाई अब क्या अपन बेड़ा गया ये कहीं कहीं काम करना है ये बाबत तो पहलो काम तो यो है सामने यो हो जी वजह से अपन बेड़ा करवा की जरूरत पड़ी कि आप सारंगी कमाए जा आठ महीना पहला दिया पचास जना ने के बारे में मैंने अलग अलग किस्म का समाचार कीड़े को कोई समाचार कीड़े को कोई समाचार भी माने मिलता दिया तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये पहला एक बात देखा कि जो सारंगी कमाई चालू हमारा हाथ में गया तुम्हारो तो वियो कहीं तो दो तरह की बात है कि એક તો तो उपयोगी नहीं बनिया ઉપયોગી નહીં બન્યા તો એને કામને આગે કરનો કે નહીં કરનો એ પે एक तो विचार करा दूसरी बात यह कि आठ महीना तक लोग हाथ में रह गया तो वह तरंगी कमाई चालू हो गई कटे टूट फूट अच्छी तरह की चीज़ है कि जो जमाने में देखा तो बात तो जमा दिन में मैंने काम करी हो कि भाई सब कमाचा ने खुद ने सारंगिया ने खुद ने एक बार आंख बारे काट ली कि वे कच्ची हालत में है दूसरा बातियों का रंग भी जिरक ने वो कमाचो है जिरक सारंगी है जो थोड़ी बात करना चाहवा कि भाई ही साध रो कई वियोग कर उपयोग करियो उपयोग वियोग कि वियोग और कई मंशा है इनमें दो बातें हैं एक तो जो लाल लो जो काम वियो वीरो थोड़ा पंथा पड़े कि भाई कर वो काम चल दियो और फिर अब दो महीना बाद में फिर आप लोग ने पचास कमाए चार सारंगिया फिर भेजाई ढंग तय करना चाहिए तो एक तो मैं बैठन तय करा ये कि सब मिलने तय करा कि भाई ये ढंग नहीं करो ये ढंग नहीं करो तो फिर अंदाज भी अपन लाल ली चीज रो उपयोग कसा जो भी चीज ने लाल ली चीज ने बात तो देख लेवा तो अपन आगली चीज भी अपन समझ में आ जाए तो एक तो यो प्रमुख कारण हो कि जाने कने आप ਵਾਦ ਦੇ ਦਿਆ ਵਾਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪੋਂ बुलावा की कोशिश करी दूसरी बात ई ढंगों पैदावी के लाल लाल सारे महीने जो अनुभव हुए कि जो बच्चा महीनों या कम उम्र लोगों गाना चाहे बजाना सिलसिला रामायण इसी तरीक़ा लोग आज चार पाँच साल पहला इसी तरीक़ा नया लड़का अपन ने दिखिया कि भाई हाँ ये योग्य है और काम कर सके लाल तीन साल में माने महसूस हुए कि भाई नया बच्चा मायने नहीं घुसे वो चाहे कमाई से वो चाहे सारंगी हो चाहे गाना रो काम हो चाहे ढोलक रो काम हो चाहे करतार रो काम हो चाहे सतारा रो काम हो चाहे मुरली रो काम हो कोई भी काम जो अपन संगीत महीना अपन दिख रही है वीर महीने नया कोई बेल नहीं भेजा है नया बेलवार मतलब नहीं कि भाई शुरू होता ही बहुत अच्छे काम कर ली बात जरूरी नहीं है लेकिन शुरू आ तो कुछ आगे कठिन कटे जाए तो दूसरी बात यह समझ वाली कोशिश करा और तीसरी बार में फिर आप कोशिश करा कि तो थोड़ी बड़ी संख्या में लोग अब आज क्योंकि खास तौर काम कमाए चालेंगे दूसरी बात इनसे जुड़ी हुई है जो बात रो ज़रूरत थी कि जहाँ लोगों ने छात्रवृत्ति मिली पंद्रह लोगों ने दस सारंगी रामायण है पाँच कमर चार महीने है तो संगीत नाटक अकेडमी छः महीना का पैसा पहले दिया वही छः महीना ख़त्म हो गया अकेडमी तो विचारियों के पाँचों में सब लोगों ने एक बात देखा भाई कितो काम वहाँ साथ भी हो तो शर्बरी जी दिल्ली में वास्ते जाया अगर આપણું काम ठीक करूँगी हो तो यानी दो तरह का जोर दे सका एक तो योग जो साल भर वास्ते जाने स्कॉलरशिप दी वाने साल भर और बढ़ावे एक बात अगर कोई भी काम करियो है तो काम नहीं करिए तो बढ़ाऊ कोई मतलब नहीं है दूसरा ये कि जो नया लड़का की काम में आ सके तो पंद्रह जगह बीस वैक पच्चीस वैक सत्रह बैग जो भी नया लोग आ सके तो भी मैं भी स्कीम रामायण माने डाल सका कि नहीं डाल सका ये स्कीम रामायण स्कॉलरशिप स्कीम में जी जी किस्म की दिक्कत आई है तो ये जी ढंग काम करना चाहता है ढंग काम नहीं कर सके तो मेरा कई कारण है ये कारण भी एकेडमी वाला ने भी बतावा आपने उसको दोबारा से भी समझवानी आवश्यकता है तो ये सब बात आप आज का दिन परसों महीने की चीज में कर दे तो मुख्य मूल के प्रयोजन अपन बेड़ा व्यवहार और ये ढंग हुआ है अब सब बेड़ा बेड़ावे तो शाम रो प्रोग्राम अपन तो रात जी में अपन गाना बजाना अपन कुछ सुनो ये रो काम रहा दिन का काम रो महीने जो दूसरा काम है ये काम कर लेना आप कने एक दिन ही जाए काले रो परसों शाम तक सब ने निकल जाना तो काले शाम तक रहो तो कुछ लोगों ने और बारह जटों जोधपुर जान लोगों ने बुलाना करना है तो वे बुला और काम काले कर ले वहाँ ईटन को काम कर ले और बाकी आज तो बाहर लोगों ने बुला ला तो पचे कहीं एक माने ने सुना और काम ले जाए कुदरे सुनवार और आपस में मैंने बातचीत समझ में नहीं गए तो अब तो आप दंगों एक काम कर ला करना की લંગર માયનો में મજાને કામાચા सारंगी मिली भी लोग आपकी तरफ को जो गा सके वो गावे से बजा सके वो बजा ले खाली बजान करना चाहो तो बजान कर ले और आपको थोड़ा सा अंदाज करना कि कैसी परिस्थिति आपके सामने है जो करवाई बात तो पहला दो दो जना हूँ ज़्यादा नहीं तो कोई भी दो जना में जाओ अकेले कोई करना चाहे तो अकेले करो और बाकी दो जनों ज़्यादा नहीं है ताकि अपन ठा पड़ सके कि कहीं स्थिति है तो पहला तू आया था तू तो दो जना दो दो जना आ जाओ यासिन जैसा दो जना क्यों बताओ And order. ਵੇਲੇ ਕਰਣੀ ਢੋਲਾਰੀ ਵੇ ਜੀ ਪਾਗੀ ਲਗਾਏ ਬੋਰੀ ਰਵੇਲੇ ਕਰਣੀ ਢੋਲਾ ਜੀ ਪਾਗੀ ਲਗਾਇਆ ਢੋਰੀ भोरी भोरी धावड़ी ने में दिया para ਲੂੜੀ ਬਵਾ mando Und in, äh, äh, äh, äh,